सर्वज्ञ ईश्वर सर्वजंतु बुद्धि कर फल विभाग साक्षी सर्वभूतांतरात्मा इसने बात सिद्ध हो गया कि जो ईश्वर वो तो सर्वज्ञ है सर्व जीवों के द्वारा किए ज्ञान और कर्म के फलभूत विभागों का वह साक्षी है और वह सर्वभूतों का अंतरात्मा है सर्वभूतम जो अंतरात्मा है इस पर प्रभाव है साक्षात प्रोक्षात ब्रह्मा आत्मा सर्वांतर क्यों साक्षात अप्रोक्ष भिन्न होता तो साक्षात अप्रोक्ष नहीं हो सकता साक्षात वही अव्यवहित अप्रोक्ष अत्यंत अव्यवहित अत्यंत अभिन्न अप्रोक्षत्व है और यह आत्मा सर्वांतर विश्व में है स्वयं चलते आत्मा जंतु नाम नान्य तो वृत्ता श्रोता मंदा विज्ञाता वही आत्मा है समस्त जीवों का इसलिए कहा है नान्य तो अस्थि ये जीव करके अपने आप का श्रोता मंत्र विज्ञाता मान रहा है उससे भिन्न कोई नहीं है अतो अस्मादात्मना अन्यो दृष्टा नास्ति श्रोता वा नास्ति मंता वा नास्ति विज्ञाता वा नास्ति इसी द्वारा श्रुति देवी प्रधान परिषद नागरिक विज्ञात्री इत्यादि आत्मांतर प्रतिशील श्रोते है इसलिए कोई दूसरे आत्मा का स्पष्ट ही निषेध होने के कारण से तत्व से खिंचा आपत्य परेशान तत्मसी के महावाक्य द्वारा उस ईश्वर में भी आत्मत्व का ही निर्देश करने से जीवात्मा और जो है ईश्वर में कोई अंतर नहीं है नहीं मृत्यु पांच आपत्ति भविष्य है जो एक मिट्टी का ढेला है उसको आप जो है कांचन है ऐसा कोई व्यवहार नहीं होता यदि अत्यंत भिन्न वस्तु है तो आप एक दूसरे को जैसा अमृत में कांचन हैं तो व्यवहार नहीं है उसी तरह यदि ईश्वर आत्मा अत्यंत भिन्न होता तो ईश्वर में जो आपत्ति के आपत्ति व्यवहार नहीं हो सकता है लेकिन ईश्वर में जो आपत्ति व्यवहार हो रहा है तो उसे ज्ञापन होता है कि जीव और ईश्वर दोनों इतना ही एक और बहुत बड़ा पूर्वपक्ष है ज्ञान सिद्ध कर्म उपास्य उपास शुद्धा शुद्ध मुक्ता मुक्त भेदार्थ भेदा एवं चिन्ह भेद दृष्टि अपवादा ज्ञान का भेद है ज्ञान भेदा आत्मवेदा वो सर्वज्ञ नहीं अनुपम ज्ञान भेदा आत्मभाव का फिर क्या कि भाई शक्ति भेदा सर्वशक्तिमान है हम अल्प शक्ति है शक्ति भेद के दृष्टि भी आपको आत्मभेद मानना पड़ेगा कर्म भेदा उसका तो कर्म क्या है पूरा सृष्टि को परिस्थिति लय करता है पर ही और यहाँ पर एक छोटी भी चीज की सृष्टि करने के लिए कितना परेशान होता है तो इसीलिए जो है स्पष्ट ही है कर्म में भी दोनों का भेद है इतना ही वह उपास्य है हम उपासक हैं वह शुद्ध है हम अशुद्ध हैं वह मुक्त है हम अमुक्त हैं इस प्रकार का भेदों का होने से भेदा आपके अवश्य अभ्युदन एवं यदि चेन्ना अवश्य आप बात को स्वीकार करना चाहिए तो सिद्धांत कभी नहीं हो सकता क्यों भेद दृष्टि अनुवाद ढेर दृष्टि का अपवाद कर दिया गया है विचार कर विस्तार से ये तुम संसार में ईश्वर अन्याय की तन्मा तो पक्ष कहता है ये जो आप जी ने कहा ईश्वर से अनन्या होता है संसारी भिन्न नहीं है संसारी वह आपका कथन उचित नहीं पहली तो क्या है भेद रहेगा संसारी आत्माम इस संसारी आत्माओं का उस ईश्वर आत्मा से भेद मानना ही चाहिए क्यों अस्मार लक्षण भेदा अश्व महिष्व घोड़ा और भैंसा के समान ये स्पष्ट ही भेद है इसलिए आपको मानना पड़ेगा लक्षण में भी स्पष्ट ही है खत्म लक्षण भेद इतने लक्षण भेद कैसा है यहाँ संसार समझा रहे ईश्वरता नित्यम सविषय ज्ञान सवित्र प्रवाच होते इसे पूर्व पक्ष की व्याख्या हो रही है ईश्वर के अंदर क्या है नित्य सर्विषय का ज्ञान है नित्य ज्ञान है उसके पास सविता के प्रकाश के समान तरीबीरम संसारिणाम और ठीक तीव्र संसारियों मंदिर क्या देख रहे हैं तद है अद्योग सिंह अद्योग के प्रकाश के समान है का प्रकाश के समान है जुगनु के प्रकाश के समान अल्प है अल्प क्षणिक है नित्या सर्वशिराज ईश्वर शक्ति विपरीता इतर से इतने ईश्वर की शक्ति को देखेंगे आप वह नित्य हुआ करती है सर्वशिरा शक्ति उसके पास है और इतर मैं जीव से जीवात्मा के बढ़ गया है विपरीता तो अनित्य है और अल्प विषया शक्ति है कर्मच चित स्वरूपात सत्ता मात्र निमित्त ईश्वर से कर्म नहीं है देख लो कर्म क्या है चित स्वरूप आत्मसत्ता मात्र निमित्तम ईश्वर ईश्वर के अंदर जो कर्म है वो चित्त के स्वरूप जो आत्मा की सत्ता है मात्र निमित्त उसके अंदर कर्म होता है और जीव के अंदर दृष्टान के स्वरूप भेद सत्ता मात्र निमित्त तो ग्रहण करने इस के स्वरूप वाला द्रव्य के सत्ता मात्र निमित्त मान करके ग्रहणात्मक क्रिया ग्रहणात्मक कर्म आप देख सकते हैं उसी प्रकार की ईश्वर में जो कर्म होता है और चित्त स्वरूप होता है जो आत्मा है उसकी सत्ता मात्र निमित्त मान कर ईश्वर में क्रिया होते हैं लेकिन हमारे क्रियाओं के लिए तो बार बार सारी चीजों की पूछा है हमारी अपनी ये चित्त स्वरूप है इस स्वरूप मात्र की सत्ता को लेकर के हमारे क्रियाकलाप नहीं होते हैं हमारे क्रियाकलापों के लिए गाय अनेक वस्तुओं की पूछा होता है राजा अयस्कांत प्रकाश अनुच्चा स्वास्थ्य अभिक्रिया रूपम ऐसा पहले करें राजा के समान समझो कि अयस्कांत मणि के समान समझो के प्रकाश क्रम के समान समझो स्वात्म अविक्रिया रूप मीर ईश्वर से कर्म ईश्वर कर्म कर रहा है लेकिन ईश्वर का कर्म अपने स्वरूप में कोई भी विकार को पैदा करने वाला नहीं होता है जैसे राजा का अंदर होता है या राजा के अंदर की संभावना है इसे दूसरा स्थान दिया अयस्थान को नहीं अयस्थान होने विकार हो सकता है इसे तीसरा स्थान दिया प्रकाश कर्म के समान ईश्वर का कर्म राज कर्म के समान है ईश्वर का कर्म एकांत होने के कर्म के समान है और ईश्वर का कर्म प्रकाश कर्म के समान है विपरीतम इतर और जो इतर है वो ऐसा नहीं है चित्त स्वरूप जो सत्ता है उससे भिन्न वस्तुओं के अधीन होकर के ही अपने कर्म की क्रियाओं को करता है ये अंतर है विपरीतम इतर इसी प्रकार से उपाधि इत्यादि रचना उपास ईश्वर गुरु राज उपास शिष्य वृत्व अद उपासित इत्यादि वचन के आधार पर ज्ञापन होता है वह ईश्वर उपास्य है और जीवात्मा उपासक है स्थान जैसे गुरु है उपास्य शिष्य है उपासक अगर राजा है उपास्य उपासक है मृत्यु आपका पाप का विश्रणार्थ नित्य शुद्ध ईश्वर और वो शुद्ध है अपद पापमा इतने शब्दों के द्वारा ईश्वर को स्पष्ट साबित कर दिया है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है पुण्य और जीवात्मा के रहेगा पुण्य पुण्यो वही लोग अब पापे ना पापो वही लोग अपुण्य अपुण्यो वही लोग इत्यादि का है इससे स्पष्ट ही है इसका तो अपने पाप गुजरा पूरी होता है और अपने पाप को तो कोई मतलब नहीं है इसलिए वो शुद्ध है ये अशुद्ध है अतएव तो नित्य मुक्त ईश्वर नित्य अशुद्ध योगा संसारी की तरह हो इधर नित्य जिसलिए वो शुद्ध है इसलिए ईश्वर नित्य मुक्त है जिधर नित्य अशुद्ध है इसलिए वो अशुद्धि का योग है ये जीवात्मा नित्य ही संसारी है अभी जहाँ यद ज्ञान लक्षण विरोधी तत्व विरोध जहाँ आदि वेद लक्षण आप देख रहे हैं आदि निमित्त को लेकर के वेद है वहाँ इसलिए तथा वेदो दुष्ट हो वह अवश्य आपको वेद मानना ही पड़ेगा अतः ईश्वर और जीव में ज्ञानाधिकृत लक्षण वेद होने के काम से जीव और ईश्वर में भी वास्तविक वेद मानना चाहिए यथा अश्वम तथा ज्ञान लक्षण भेदात ईश्वर आत्मा भेद चिन्ह इसलिए शादी के अत्यंत रक्षभेद होने पर वस्तु में भी वास्तविक भेद मान लेते हो ठीक उसी प्रकार से ज्ञान लक्षण भेद होने के कारण से ईश्वर आत्माओं का अवास्तविक भेद मानना चाहिए क्यों भेद दृष्टि अपवादा सिद्धांत के जवाब की व्याख्या करेंगे अज्ञान भेद दृष्टि का स्थापना कर दी और अब उसके अपवाद के बारे में अन्योऽहमस्मि न सवेदम तीर्थ्य लोका भवंती मृत्यो समृत्यु ही अन्य सो न स्पष्ट कहा वो ईश्वर अलग है और असौ असो ईश्वरो अन्यो अहम च अन्यो अस्मी वो ईश्वर अलग है और मैं अलग हूँ ऐसा जो जानेगा वो वास्तव में कुछ जानता ही नहीं है नहीं है वो एक चीज होता बनोगे भी कहा जो इस तरह का भेद बुद्धि का मन रखेगा वह क्षीण होने वाले लोगों को विनाशी लोगों को प्राप्त करेंगे अर्थात ऐसे लोगों को प्राप्त करेंगे जिन लोगों को उसको बारम्बार पूर्वावृत्ति होना होता है मृत्यु से मृत्यु मात्र होती कठोर में भी कहा और मृत्यु से भयंकर मृत्यु और ये जरा तो मृत्यु है इस मृत्यु से भयंकर अज्ञान की मृत्यु निरंतर वास करेगा ऐसा भी कठोपनिषद में कहा है क्योंकि भेद दृष्टि ही अपौध गए इस प्रकार से भेद दृष्टि का सर्वत्र निराकरण ही किया गया है एकत्व प्रतिपादिन्य श्रुत और एकत्व को प्रतिपादन करने वाली श्रुतियाँ एक दोनी हजारों की संख्या में है ज्ञान ज्ञानोचन भेदा प्राप्त उच्च गए और जो पूर्व पक्ष ने कहा था ज्ञानोचन भेद से ईश्वर और आत्मा का भेद मानना ही चाहिए उस विषय में के लिए ये हेतु नहीं और भी हम हेतु दे सकते हैं क्या हेतु है न उचते न अनप्रतिगमान ऐसा आप जो कहते हैं वैसे आप वास्तव के क्या मोचते ये नहीं कर सकते आप क्यों नहीं कह सकते अनप्रतिगमान ऐसा किसी ने स्वीकार नहीं किया न कर सकता है नहीं कर सकते विद्यादि व्यतिरिक्ता लक्षणाष्ट ईश्वर भिन्न लक्षण आत्मा रो न समझी तो में बुद्धियारी व्यतिरिक्तता ये जो चक्षुरादि इंद्रिया है का संभात है स्वर शरीर स्व शरीर का संभात स्व आधिष्ठान अज्ञान संहित कारण से संहित तो ये शरीर त्रयोक्त त्रयोपेत जो है उससे अतिरिक्त विद्या व्यतिरिक्ता विलक्षणा ईश्वर भिन्न लक्षण बुद्धिया से व्यतिरिक्त परस्पर विलक्षण हो और ईश्वर से भी विलक्षण वाला हो ऐसे अनेक आत्माएं कभी भी नहीं हो सकते आत्मा न संति एक ईश्वर एक एव ईश्वर आत्मा सर्वभूदान नित्य मुक्त भूगम्य है और स्वीकार क्या हो रहा है वास्तव में एक ही ईश्वर को आत्मा सबसे सगल भूतों का आत्मा कहते हुए नित्य मुक्त को ही स्वीकार किया गया है बाह्य चक्षुर बुद्धिया आदि से ही बैठक है उसका बाह्य बुद्धियादि समाहार संतान अहंकार मत्वादि प्रत्यम प्रबंध अविच्छेद लक्षण हो आगे जोड़ेंगे कल्पित तो अनित्य विज्ञान ईश्वर लक्षण विपरीत तो जीव अभिगम को उसके साथ जुड़ेगा बाह्य जो चक्षुरादि ही और अंतर जो बुद्धियादि है इत्यादि का समाहार जो संघात है इस संघात का जो धारा संतान चल रहा है वो धारा चल रही है और वो धारा भी कैसी है अहंकार और मत्वादी से विशिष्ट है ऐसे मत्वादी विपरीत प्रत्ययों का प्रबंध विपरीत प्रत्ययों का जो कारण के अविच्छेद लक्षण हो इसलिए प्रत्यय का काम क्या है अज्ञान उस अज्ञान का अविच्छेद रूप कल्पित हो उसके साथ जो एक कल्पित जीवात्मा माना गया वास्तव में कोई ये दार्श अनुपज्ञता विपरीत ज्ञानता वाला अल्प शक्ति वाला कई वास्तविक आत्मा नहीं है वो कल्पित आत्मा है नित्य से विभिन्न भक्त विद्या आत्मा ईश्वर गर्भाव क्योंकि ये जो है अवच्छेद अज्ञान रूपी कारण से विशिष्ट हुआ जो चैतन्य है ये भी वाक्य में कैसा है कहते शुद्ध बुद्ध मुक्त विज्ञान स्वभाव वाला आत्मा है वह ईश्वर है जो आत्मा रूप जो ईश्वर वही इसका गर्भ इसका गर्भ है वही इसका मूल कारण कौन अधिष्ठान वही है कल्पना का एक जो विरोध जो अज्ञान वाला जो हम अनुभव कर रहे हैं अविच्छेद अज्ञान अविच्छेद लक्षण वाला जीवात्मा की जो कल्पना है उसका अनुष्ठान वास्तव में प्रसिद्ध नहीं है इसलिए यहाँ पर गर्भ शत्रु कर दिया गर्भदेव समझा कि उसके अंदर रहने वाला ऐसा नहीं गर्भदेव गर्भ गर्भ अंदर से दूर रहा इसका गर्भ अंदर है आपको तो पता नहीं कोई दिखता है नहीं इसी तरह से यहाँ पर भी ये सारा उसी में कल्पित होता है वो हमें नहीं दिखाएगा गुणता के लिए गर्भ नित्य विज्ञान भाव चित्त चैत्य बीज बीज स्वभाव कल्पित तो अनित्य विज्ञान नित्य विज्ञान अवभाष स्वरूप है वो फिर भी चित्त और चैत्य बीज और बीजी स्वभाव को स्वीकार किया चित्त मने प्रतिबिंब चैत्य मने वृत्ति रूप और प्रतिबिंब वृत्ति रूपा मतलब बीज बीजी मने बीज अविद्या और बीजी हो गया कार्य तो शरीर बीज हो गया अविद्या अज्ञान और बीजी उसका जो कार्य है शरीर तो नित्य ज्ञान और भाष स्वरूप होता हुआ भी चित्त और चैत्य का भेद वो बीज बीज भेद वाला होकर होता होकर कल्पित है जो ऐसा अनित्य विज्ञान वाले को ईश्वर लक्षण संकृत अनित्य विज्ञान ईश्वर लक्षण संकृत अति ऐसा ही हमारे वेदांत में स्वीकार किया जाता है वो हम कल्पित जीव को ही मानते हैं वास्तविक जीव को मानते हैं जिन जो आपने भेड़ का लक्षण बताया है वह सारे सारा लक्षण कल्पित लक्षण है ज्ञान का भेद आपने कहा वह भी औपाधिक है आपने कहा नित्य ज्ञान है जीवात्मा में नित्य ज्ञान है परमात्मा में अनित्य ज्ञान में जीवात्मा में कह रहे हो तो चैत्य के कारण से वृत्ति की वृत्ति गरिता का आरोप आप आत्मा में करके जीवात्मा में अनित्य अनित्य ज्ञान है ऐसा आप कहते हो इसी प्रकार से शक्ति सर्वशक्ति की बात जो कह रहे हो उपायु का कुंठित शक्ति को आत्मा का आरोप करके जीवात्मा की शक्ति अल्प शक्ति कहते हो और परमात्मा में सर्वज्ञ सर्व है सर्वशक्ति को कहते हो यह उपाधि की कुंठित शक्ति को लेकर के ही आरोपित है कल्पित है आत्मा में इसी प्रकार से आप अगर कर्म करने में इसको बाह्य वस्तुओं की अपेक्षा होती है आप इस जीवात्मा को वास्तव में ऐसा नहीं है बाह्य वस्तुओं की अपेक्षा कौन कर रहा है ये उपाधियां कर रही हूँ एक उपाधि दूसरी उपाधि से सापेक्ष होकर कार्य करते हैं वास्तव में जीवात्मा को भी कोई भी कार्य करने के लिए किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं होता जो उपाधि अन्य वस्तु सापेक्ष हुआ उसका आरोप आपने जीवात्मा में कर दिया है इसी प्रकार समझो शुद्ध अशुद्ध की बात उपाधि की अशुद्धि को लेकर के जीवात्मा में अशुद्धि का आरोप है इसी प्रकार जो मुक्त अमुक्त की बात अमुक्त कौन है जो मन है मन कारण बंधन मुख्य हो मन आदि उपाधियां ही बंधन में स्वस्थ होते हैं तेरह आरोप हो जाता है आत्मा में इत्यादि भेदों की जो आपने कल्पना किया है वो वास्तव में सारा का सारा उपाधिगत दोष को आत्मा में आरोपित करता हुआ वास्तव में जीव में भेद मानना यह उचित नहीं है ऐसा जो हम हम इतना ही मानते हैं जो आप जीव में भेद कह रहे हो वह कल्पित भी नहीं है ऐसा हमारा मस्ती स्वीकार है यश्य विच्छेद संसार विवेचेद मोक्ष रहो जिस उस प्रबंध का विविध प्रत्येक प्रबंध अविच्छेद अक्षरों कल्पित हो जीवात्मा प्रत्येक प्रबंध में कारण तो कारण क्या है अज्ञान तो उस अज्ञान का जब तक तो अविच्छेद है तब तक संसार व्यवहार हो रहा है और जब वह अज्ञान को विच्छेद हो जाता है तब कहते क्या होगा तो मोक्ष व्यवहार हो जाता है प्रध्वंसी प्रध्वंस हो देव प्रति तो मनुष्य लक्षण हो भूत विशिष्ट समाहार हो और दूसरी बात यह भी देखो जो आप मानते हैं वो भी बैठा नहीं देवता पितर मनुष्य इत्यादि भेद बात है देव पितर मनुष्य भूत विशेष समाहार हो जो कि भूत भौतिक वस्तु सृष्टि से बना हुआ भूतों का संघात विशेष है वह भी उसी प्रकार का है जैसे मृत प्रलोक प्रत्यक्ष प्रभ्रंश और मिट्टी का लेप के समान आप दीवार में मिट्टी का लेप करने कितना भी टिकता है वो तो साथ दस दिन एक बारिश पड़ गया सारे मिट्टी भर गई गर्मी आ गई तो क्रैक क्रैक हो गई तो फटफट पड़ के निकलते रहते था फाँप तो पड़ चाहे उसमें आजकल के जमाने के हिसाब से चलो आपने उसमें पर बना डाला हम्म, स्मोसन बना दिया उसमें पेड़ डाल दी गोंद डाल दी दरिया बना करके लगा तभी क्या तो होता चार साल पांच साल के कुछ लोग हो गई पापड़ कितना होगी पहले जैसा कोई भी चीज का लेप होता है वह लेप पर नित्य स्थायी हो नहीं सकता उसी प्रकार से देव पित्र मनुष्य शरीर की जो भौतिक विषय भूत विशेषों का कार्यभूत संघात विशेष है ये आगे इस आत्मा पर भी चिपका हुआ जैसे लग रहा है लेकिन वास्तव में भी चिपका इस लेप से भी वह आत्मा लिप्त हो नहीं सकता इसलिए आत्मा सदा ही निर्लिप्त ही रहता है मूल दीवार के समान ऊपर का जो भी चीज है वो तो सब कुछ जाने वाला है रास्ते में भी झड़ जाता है लेकिन दीवार टिका हो जाता है लेकिन भी बहुत ही दृष्टिकोण दृष्टिकोण से कहा जा रहा है नहीं तो दीवार ये रहते रहते सौ दो सौ घट गए और क्या वो भी उसका लूट के लिए जो चूर्ण अलग हो जाए हर चीज के आप भौतिक वस्तु में कभी विशेष से ही वो संघटित हुआ हमें अनुभव में आता है लेकिन ये आत्मा के साथ पिंड संगठन भी वास्तविक हो नहीं सकता वह भी विश्लेष निश्चित है अतय देव के मनुष्य शरीरों को लेकर आत्मा संश्लिष्ट हो गया है अतएव एक देहादि से उच्चिन्ह आत्मा परिच्छिन्न होगा ऐसे कहना भी गलत है क्रिया परिच्छिन्नता एक अनुत्तीर्ण है ये बहुत यह भी प्रध्वंस वाला होने के कारण से यह अपने आप और शरीर आदि का संश्लेष भी विश्लेष हो जाएगा और परिचिनता भी नष्ट होकर आत्मा के तरह परिचिन स्वरूप का स्थायी हो जाता है इसलिए यह मत भी उचित नहीं थी इसलिए कर दिया पुनः चतुर्थ भिन्न लक्षण ईश्वराद अभ्युगम्य थे क्योंकि ये जो तीन और कांश इन तीनों से परे कौन है चतुर्थ तुरीय जो तुरीय खंडियों भिन्न लक्षण थी ईश्वर ईश्वर से उस तुरीय को कोई भिन्न लक्षण वाला अन्य है ऐसा हम कभी स्वीकार नहीं करते ना भी गम्य वैसे की आत्मा से जितने उतार लिया तो आत्मा आप नष्ट हो ही जाने वाली थी साधन लगन की क्या जरूरत है हाँ अपने आप नष्ट करने पर सत्य नहीं होता है ना उपाधियां तो अलग हो रही अज्ञान तो नष्ट नहीं होता है कारण अलग नहीं हुआ वो ज्ञान भी तो अविद्या का कार्य है कौन सा ज्ञान वो जो मैं दिया इस हम्म। हम्म। हम्म। अज्ञान का कार्य ना नहीं आज अज्ञान का तब कार्य अज्ञान अज्ञान तो कोई लेख नहीं है अज्ञान लेख नहीं है जब तक तुमको दृश्य दिखाई दे रहा है तब तक उसका कारण को तब ज्ञान माना जाता है लेकिन श्रीदारी कार्य से भूत विषय देव पितर आदि को लिया है उन्हें बने को ले गए कार्य ही लेप है कारण लेप नहीं है क्योंकि जो लेप होता है वह जिस चीज से बना है कारण भी उसी चीज का ही है इसलिए हमने दृष्टान को ध्यान नहीं दिया हमने क्या कहा था ईट स्थायी है बाकी सब शास्त्र भी यदि है अगर आपको मानना पड़ेगा चीज व्यवधान बाकी जो कार्य है वो भी भौतिक है हिंट भी भौतिक ही है और जो प्लास्टर है पेंट है वो लेप जितने भी है वो भी सब पार्थिव ही तो एक चीज ऐसा है जो स्थायी दूसरा प्रत्यक्ष प्रभुंसी है अज्ञान आपके जो स्थायी है यह आवत मोक्ष प्रयुक्त रहेगा इसे शरीर आदि को लेकर आप आत्मा में अनित्यता ला नहीं सकते और अज्ञान अनित्य है ये कोई प्रत्यक्ष जानता नहीं है जो प्रत्यक्ष प्रभ्रंश का प्रतिष्ठान प्रत्यक्ष प्रभ्रंश किसका हो रहा है इनका नहीं लेखों का हो रहा है यह यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रभ्रंश शरीर आदि का हो रहा है अज्ञान बने अज्ञान आपके अंदर तब तक बना हुआ है जब तक आप मान रहे हैं शरीर दिखाई दे रहा है शरीर जन्म ले रहा है मर रहा है यावत प्रबंध है तावत परमेश्वर पहले कह दिया यश अविच्छेद संसार और वह परिचिंतन करो अज्ञान का जब तक अविच्छेद नहीं है अविच्छेद है तब तक संसार है अज्ञान का विच्छेद होने पर ही मोक्ष इसलिए दृष्टान जगत कार्य को लेकर वृत्तान को कारण को लेकर में कारण की बात पहले हो चुका और वो कारण भी अभी भी कल्पित है कल निश्चय होएगा जब ब्रह्मांड की पहले पाने के लिए कल्पित है और कल्पित तो अपने आप छूटता नहीं है कल्पित तो अपने आप कभी छूटता नहीं है कल्पित तो अपने आप कभी छूटता नहीं है दूसरे को उपदेश की जरूरत पड़ता है अब आपने रस्सी में जो है काम कल्पना कर लिया अपने आप छूट जाएगा जो वह कल्पना तब छूटेगा जब कोई कहेगा भाई ये सांप नहीं ये रस्सी है या दोष निवारण होना जरूरी है प्रकाश आना चाहिए कहीं से भयंकर तो मन प्रकाश हुआ भ्रांति मूर्त होगा इसी प्रकार यहां पर भी गुरु की उपदेश की अपेक्षा है वो कहेगा तत्वसी हम ब्रह्मास्त्र को उपदेश देगा तो समझ में आता है अरे भाई ये तो अज्ञान के ऐसे लग रहा था भरा इससे पहले नहीं यह साधना दे कर दे आत्मा ही है भगवान ने कहा आत्मा ही क्या है मित्र है आत्मा ही शत्रु भी है हमें अंतरण करण ये जितना शुद्ध होते जाए एक गुरु है यह प्रकाश स्पष्ट कर अंजान इधर आशित होते जाएगा ही प्रकाश आप स्पष्ट होते जाएगा इसलिए सारा खेल प्रकाश का है प्रकाश अनुभूति होना है तो भाग्यम तो बोलना और वो बाह्य साधन की हो रही है इसलिए ये तो चारवा का भी दृष्टान उनके लिए है जो शरीर को आपका जा रहा है उसके लिए कार्य देव की तरह शरीर को लेकर के आप आत्मा में नहीं मान सकते जो आत्मा आज अपने आप को इस शरीर से संबंध होता हुआ महम मनुष्य होकर के अभिमान कर रहा है वही जीवात्मा देव उपाधि मिल जाए अहम देवा करके अभिमान करेगा वही आत्मा जब पितृश्री को प्राप्त करेगा अहम पित्रो पितरश्मी करके व्यवहार करेगा इसलिए इस आत्मा के साथ अज्ञान विशिष्ट आत्मा के साथ पहले कल प्रबंधक है वे तो अविच्छेद लक्षण हो जो अज्ञान का अविच्छेद उपाधि चीज है उसके साथ सारे में ये दीवार ये जब तक नहीं हटेगा तब तक ले जितना भी हो वह तो प्रत्यक्ष से है ही उसकी जो स्थायित्व नहीं हो सकता इसलिए आत्मा के साथ इसलिए ये कहा गया ना अज्ञान में कहा है ज्ञान कहा है Thank you. आत्मा में कर देते हैं इन सारे कल्पनाओं का अधिष्ठान तो गुण को मानना ही पड़ेगा इसलिए चित्रपट का अधिष्ठान दिया ना चित्र प्रकरण में पट जो है स्वच्छ वो तो मेरा निराधार आपने घटित पट किया घटित पट किया यही अज्ञान है अज्ञान ले दीवार बनी कड़क हो गया फिर उसके ऊपर लांछित पट कर दिया फिर उसके बाद रंजित पट हो गया पाक्षिक तो सारे कहा है रंजित पद कहा है उसी कमरे में शुद्ध पद नहीं है लांछित पद भी शुद्ध पद नहीं है गतित पद भी शुद्ध पद नहीं है इसलिए अब आगे चला इसने चतुर को जो तुम है जिनकी अवस्थाओं से बने वो तो शुद्ध है वो शुद्ध ही है उसको भी कुछ ईश्वर से मानना मानना चाहते हैं अगर नहीं ईश्वरान अन्य चतुर्थो भिन्न लक्षण इत्यपि न अभिगम मिलता है ईश्वर से वह तुझी नाम का वस्तु चौथा वह भिन्न है भिन्न लक्षण वाला है इसलिए वह ईश्वर से अन्य है ऐसा जो कहते हैं वह भी हम स्वीकार नहीं कर सकते इसलिए बुद्धियादि कल्पित आत्मव्यतिरेक अभिप्राय है तो लक्षण भेदादि आश्रय सिद्धोहित हो इसलिए कहे तो जो था लक्षण भेदार आत्मा ईश्वराभिन्न परिंचिमात्मा तो भिन्न लक्षण वेदान अश्वंशव ये उसका अपना अनुमान था उस अनुमान वाला जो लक्षण वेदा थे तो आश्रय दोष से ग्रसित हो गया कहते थे वही होगा बुद्धियादि कल्पित जो आत्म व्यतिरेक का अभिप्राय से जो कावत बुद्धि कल्पित भेद बुद्धियादि से कल्पित भेद है उस भेद से अतिरिक्त भेद के आधार पर व्यतिरेक अभिप्राय है ना आत्म व्यतिरेक में आत्मा कभी भेद के अभिप्राय से जो लक्षण में हेतु दिया था वो आश्रय सिद्ध हेतु से वो आश्रय सिद्ध से ग्रस्त हो गया उस आत्मा में भी कल्पित आत्मा के कारण से निरूपाधिक आत्मा में जो भेद कह रहा था वह इसलिए ठीक नहीं बना क्योंकि लक्षण नहीं जो आपका हेतु था वह हेतु ही ईश्वर के अंदर नहीं हो सकता है और यह जीव के अंदर भी भेद का साधक नहीं रह सकते वहाँ आश्रय से निर्देश है क्यों आश्रय निर्देश है आदमी से आत्मा ईश्वर से अन्य आत्मा ही होने ना होने के कारण से लक्षण भेद उपाप कहे तो पक्ष में नहीं रहा ईश्वर से वृद्ध लक्षण तुम उत्तम सुख दुख आदि कार्य है ईश्वर से वृद्ध तम सुख दुख आदि योग अयुक्तम ये जीव और ईश्वर दोनों एक ही है ये जो हम सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं और ये जो परस्पर अनुभूति हो रहा है वृद्ध क्षमता दिखाई दे रहा है ये फिर ईश्वर में ही है जागरणी का और रंजित पट है या लाछित पट है या गति पट सब शुभ पट नहीं है मेरे स्वरूप धोकर आगे सब ईश्वर नहीं है तो ये कहना उचित नहीं है अयुक्त छेद निमित्त सती लोक ऊपर अध्यारोपणार्थ वहाँ है हम मानते हैं एवं आरोपित है ईश्वर नहीं है तो ईश्वर में वो आरोपित है ईश्वर के अंदर वृद्धि लक्षणात्मक अयुक्त है सुख दुख का भी योग भी अयुक्त है इति न अर्थात वो भी युक्त ही है ईश्वर का आपको ईश्वर सुखी है ईश्वर दुखी है तो कोई हम यहाँ करते नहीं ईश्वर को कहो अरे ईश्वर अल्पज्ञ भी है ईश्वर जो है सर्वज्ञ भी है तो हम लोग कोई आपत्ति तो शुद्ध ब्रह्म को आप कुछ भी कह दो उसे कोई फर्क पड़ता नहीं ईश्वर से तो शुद्ध ब्रह्म है जो शुद्ध ब्रह्म है उसके लिए आप अल्पज्ञ तो कह दो उसको उसे क्या बिगड़ तो रहा है आपका आरोप एक कोई कपड़ा है उस पर आप चाहे रावण का चित्र बना लो चाहे राम का चित्र बना लो कपड़ा का क्या बिगड़ेगा तो दोनों का चित्र बना लो रावण राम लड़का राम का चित्र बना लो उसके ऊपर और ये तो है नहीं जो उस कपड़े के हिस्से में आपने रावण का चित्र बनाया वो कपड़ा रोएगा और जिस कपड़े के हिस्से में राम का चित्र बना वो कपड़ा कुछ नहीं होगा ऐसा कभी तो नहीं है उस कपड़े को कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे उस पर आपने रावण को बनाए चाहे आपने उस पर राम को बनाए इसी प्रकार एक शुद्ध ब्रह्म के ऊपर आप कहीं सर्वज्ञ की कल्पना कर डालो कहीं अल्पज्ञ की कल्पना कर डालो वैसे तो क्या फर्क पड़ने वाला कोई फर्क नहीं पड़ता इसीलिए आप ही कार्य ईश्वर में ही तेरा सार आ जाएगा ईश्वर ही अज्ञानी हो जाएगा ईश्वर सुखी दुखी हो जाएगा तो कोई आपत्ति नहीं क्यों निमित्त स्थिति लोक विपर्य अध्यारोपणा क्योंकि लोग कथन कौन करेगा लोक करेगा मैं अज्ञान जीव अपनी बात को शुद्ध ब्रह्म आरोप कर रहा है कर्म निमित्त सती वो निमित्त मैंने अज्ञान अज्ञान आदि उपाधियों के रहते हुए यदि जीव अपने अंदर विद्यमान वित्त विपर्यों का अध्यारोपण कर देता है तो उसमें हमारा कोई हानि नहीं है स्वरूप में कोई हानि नहीं होगा दृष्टान दे दिया सवित्री हो तो जैसे जीवात्मा जो है अपने व्यवहार को लेकर के सूर्य में कह देता है सूर्य अस्त हो गया सूर्य उदय हो गया सूर्य उदय हो गया तो दिन हो गया सूर्य अस्त हो गया तो रात्रि हो गया अस्त में क्या सूर्य में अस्त और उदय होता है क्या सूर्य में दिन और रात होता है सविता के नित्य प्रकाशमान है इसके अंदर दिन है न रात है न उदय है न लेकिन हमारी अपनी एक पृथ्वी जो पार्थिव वस्तु जो जड़ है इस जड़ में हुआ भी परिवर्तन को लेकर के हमने सूर्य में आरोप लगा लिया कि जो गोला घूम रहा है उस गोले पर हम बैठे हुए हैं घूम रहा है और उस घूमते हुए हम तो उसके साथ घूम रहे हैं ना तो सूर्योदय हो गए हमने कहा सूर्योदय हो गया बुरी देव को तो मुझे ढाला आ गया हम इधर आ गए अब कह दे रही रात हो गया न सूर्य में दिन है न सूर्य में रात है जिस उपाधि से आपको ग्रस्त है उस उपाधि का उल्लेखान से और प्रकाश आज मुख हुआ तो दिन प्रकाश का विमुख हुआ और तो रात लेकिन उसे उपाधि के प्रकाश आभिमुख्यता और अनाभिमुख्यता को लेकर के संविधान में साक्षात अहोरात्र का अध्यारोप जैसे हो जाता है प्रकाश स्वरूप स्थिरता में उसी प्रकार से यह जीव अपने अज्ञान रूपी माया रूपी धेरे में फंस करके उस आत्मा में अल्पज्ञ सर्वज्ञ प्रदारोप करता है फिर भी उस आरोप मात्र से आरोपी ग्रंथ कभी दूषित हो नहीं सकता है इसलिए यथा ही सविता लिप्त प्रकाश रूपत्ता लोकाभिव्यक्ति अनुव्यक्ति निमित्तत्व सती लोक दृष्टि विपर्यना उदयात्म अहोरात्रादि कर्तृत्व भाग भगवती एवमेव ईश्वर भी नित्य विज्ञान शक्ति रूप लोक ज्ञान अपोह सुख दुख स्मृत्यादि आदि निमित्तत्व सती लोक विपरीत बुद्धिया अध्याय विपरीत रक्षक सुख दुख आदि न सुनता इस वाक्य को सूत्र वाक्य इसका व्याख्या करते समझा के देखो यथा ही सुविधा इत्यादि जैसे कि देखो पहले दृष्टान्त नहीं है फिर उसको सिद्धांत में लगा देंगे निमित्त सभी लोक पर आप सत्य यह हमारा अनुमान था उसका अनुमान क्या था जीवो हो लक्षण देगा अश्वधीश हम जीवो ईश्वर अनंत निमित्त सदी लोगों पर पवित्र अपराध तो पहले वे गेद दे चुके ना अनंत गमान और उसकी व्याख्या किया था पहले एक गेद दे चुके हैं पहले भेद दृष्टि अपवाद पहला हेतु था भेद दृष्टि अपवाद दूसरा हेतु अनंत गमान अब तीसरा हेतु निमित्व सती लोग ऊपर अध्यारोपणा सवित्री यदा ही सविता नित्य प्रकाश रूप का जैसे अगर सूर्य जैसा है नित्य प्रकाश रूप वाला होने से वहां पर वास्तव में जो है कोई दिन रात नाम का चीज नहीं है यदि अभिव्यक्ति अनुव्यक्ति नहीं करते लोक का अभिव्यक्ति और अनुव्यक्ति को निमित्त मान करके लोक प्रकाश युक्त हो रहा है ना अभी तो इस समय यह पृथ्वी रूपी लोग प्रकाश युक्त हो रहा है और दस बारह घंटों के बाद यही पृथ्वी रूपी लोग प्रकाश से यह लुप्त नहीं रहता है क्योंकि कुछ भूल जाए प्रकाश अभिमुख हुआ तो प्रकाश लुप्त हो गया प्रकाश से मुख जो हिस्सा हो गया वो प्रकाश से जो है अलुप्त हो गया गोले तो का जो जैसे घटी है देख लो तो इसलिए कहा हम लोग क्या करते हैं वेदांति और न्याय सभी में प्रत्यक्ष ज्ञान हमेशा ही खटपट रहता है हम लोग मानते हैं हम लोग प्रत्यक्ष ज्ञान यथार्थ है वास्तविक विवेचन करके देखते हैं कि कोई भी ज्ञान यथार्थ नहीं हो सकता कोई भी आप देख लीजिए व्यक्ति है तू खड़ा कर देते ठीक है मैं यहां से देख रहा हूं मेरे इंद्रियों का सन्निकर्षण अवयव से व्यस्त रखा इधर हो रहा है क्या मैंने कैसे कर मैंने बंद कर दिया अपने घट को कहा देगा घट का एक हिस्सा को देता है घट को देखा है आपने आप भी देख रहे हो घट हो अरे हमने मुझे घट दिखाई दे रहे घटे आज पूरा घट को दिखाई नहीं विश्वास करते हो तो आपका इंद्रियों का संबंध भी घटाई के प्रदेश के साथ ही है संपूर्ण घट के साथ नहीं हो सकता आपकी इंद्रिया घूम के चारों तरफ देख लेगी क्या तुमको घूमना पड़ेगा इंद्रिय इंद्रिय को जीरा गया पर्यावरण देशावच्छेदन उसका संबंध बनता है तावत देशावच्छेदन वस्तु का ज्ञान कर सकता है हर देशावच्छेदन और ज्ञान को कभी भूल नहीं सकता अतः अयम विज्ञान तो भ्रांति है आज तक अभी समझते ही चक्षु का ज्ञान है हाँ। विचार करके देखो लेकिन हम लोग भी आगे गड़बड़ होगा घटावचिन चैतन्य के साथ प्रमात्र चेतन और प्रमाण चेतन के एकीभूत हो गया है और घटावचिन चेतन आगे पीछे ऊपर नीचे अंदर बाहर सारे लेकर के होता है ना लेकिन जब आपको ज्ञान हुआ है आपसे पूछा जाए वेदांति से आपने कहा स्वामी जी मेरे को तो अयम घटाव घटक ज्ञान